राष्ट्र और विश्व को कुछ देन देने के लिए व्यक्ति को ईश्वर के साथ उचित संबंध है करना पड़ता है करना चाहिए संख्या में जो जो बातें व्यक्ति को कर्तव्य हैं उनको करना और जो अकर्तव्य हैं उनको छोड़ना आवश्यक होता है प्राय इस संबंध में लोग कुछ विचार ही नहीं करते करते हैं तो किंचित मात्र करते हैं अथवा कभी उपासना काल में कुछ विचार कर लेते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं अभी मंत्र में पढ़ रहे थे कितना वर्णन था ध्यान दिया हो तो क्या ये वर्णन केवल कल्पना थी क्या उनके व्याख्याकारों के मन में क्या कोई स्वप्न जैसी निराधार उल्टा सीधा दिखता है जैसे ऐसी कल्पनाएं उभर के आ गई थी और उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी वेद मंत्री की इस पर विचार कीजिए अत्यंत आवश्यक है कि ये तत्ववेता सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी परोपकार करने वाले निष्काम भाव से सर्वस्व की आहुति देने वाले जीव ऐसी व्याख्या करते हैं वेद मंत्र में ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव ऐसा बतलाते हैं तो क्या इनको जो कि बिना आधार के कल्पना हुआ करती थी होती है क्या ऐसी कोई बात थी क्या इनके जीवन से ऐसा आभास नहीं होता कि इनके मन में ऐसी कल्पनाएं नहीं केवल मनमानी चलती थी सके प्रथम ये तत्वों का साक्षात्कार परिज्ञान कर लेते थे और उनमें जो परिणाम फल सामने आते थे उनको व्याख्यान अथवा लेखबद्ध करते थे इस स्थिति में जब हमारे विचार जाते हैं तो इनके शब्दों पर इनकी मान्यताओं पर विश्वास उभर के आता है ईश्वर के विषय में ऋषियों की मान्यताएं ऐसी आपकी मेरी हम सब की यदि विपरीत होवे तो किसकी बात ठीक मानी जाए इसका विचार कीजिए का स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना एक प्रमुख कार्य है और इस स्वाध्याय से श्रवण से अध्ययन से यदि हम अपने आप को कुरीद करके नहीं देखते ये नहीं सोचते कि मैं क्या पढ़ता हूं क्या सुनता हूं और मेरे जीवन में इसका कोई स्थान विशेष नहीं है मुझ पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या मैं इसको सत्य मानता हूं या असत्य मानता हूं या संशय में पड़ा हुआ हो प्रत्येक विचार को सूक्ष्मता से गहराई से देखना करके व्यक्ति देखता है कि मेरे जीवन में कोई आडंबर की बात तो नहीं है मैं केवल दिखावे के लिए तो कुछ नहीं कर रहा इस स्थिति में आडंबर को दिखावे को और प्रमाद आलस्य से होने वाली दृष्टि को व्यक्ति को हटा देना चाहिए वह सोचता है पढ़ता है सुनता है बोलता है तो प्रत्येक विषय को बड़ी सूक्ष्मता से देखता है सत्य का ग्रहण करता असत्य का परित्याग करता ये स्थिति व्यक्ति अपनी बनाए तो वही साधारण व्यक्ति जिसकी स्थिति ज्ञान कर्म उपासना में विशेष नहीं थी वह महान बन जाता स्थूल बुद्धि व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि बन जाता विपरीत आचरण वाला व्यक्ति सत्य आचरण वाला बन जाता ये गुण इस रूप में आते हैं इसलिए सोचने का पढ़ने का पढ़ाने का उन विषयों को बार बार देखने का अभ्यास व्यक्ति को ऋषियों की परंपरा जैसा बनाना चाहिए एक प्रकरण था आपके समक्ष ईश्वर के साथ हमारे संबंध ऐसा मत मानना कि हमने ये सुन लिया है और वर्षों से सुनते आ रहे हैं ये बहुत सुना है बहुत पढ़ा है प्राय वेद मंत्रों की व्याख्या में पढ़ते ही रहते हैं ऐसी भयंकर भूल आप करेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है देखिए कि दैनिक जीवन में मेरा और ईश्वर का कितना संबंध जुड़ा हुआ रहता है इन संबंध में मेरे संबंध कौन कौन से कितने व्यवहार में उतरते हैं उदाहरण के रूप में हम किसी महान गुरु के पास रहते हैं तो उस आचार्य के पास रहते हुए हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं हम अच्छे स्वभाव के हैं अथवा बालक अच्छे गुणक्रम स्वभाव का है तो वो उचित व्यवहार करता है और दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है आचार्य बड़े प्रसन्न होकर के उसको विद्या पढ़ाते धर्म की शिक्षा देते जो भी कुछ दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते ही रहते और देखना चाहते हैं कि ये मुझ जैसा अथवा मुझसे भी आगे बढ़ जावे ये भावना उसकी बनी रहेगी इसी प्रकार से जो जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके ईश्वर के साथ उस उत्तम विद्यार्थी के जैसा व्यवहार करता है ईश्वर भी उसको इसी बात महान बना देता है आपके जीवन में एक बात मिलेगी इस बात पर प्राय व्यक्ति का विश्वास नहीं होता कि जिसे गुरु जी महान बना देते हैं और गुरु जी के साथ उचित व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है अनुचित न करना छोड़ देना अत्यंत आवश्यक है क्या ईश्वर के साथ भी ऐसी स्थिति है प्राय व्यक्ति के मन में ये बात नहीं बैठती भले ही कुछ कह लेता है थोड़ा बहुत भले ही कुछ व्याख्यान पढ़ लेता है कुछ पर जैसे गुरु जी की और उत्तम शिष्य की स्थिति है ऐसे जीव अपनी स्थिति को नहीं बनाता तुलना कीजिए गुरु जी अल्पज्य है अल्प शक्ति वाले हैं अल्प संपत्ति है ईश्वर के अंदर तो अनंत ज्ञान है अनंत बल है अनंत आनंद है सभी अनंत है और उनसे कुछ अल्पज्ञता के कारण भूले संभावित है हो सकती है पर ईश्वर के क्षेत्र में ईश्वर तो इस प्रकार की भूल कभी भी नहीं करता अब तुलना कीजिए अच्छा विद्यार्थी जैसे गुरु जी के साथ व्यवहार कर लेता है जिस मात्रा में उस मात्रा में वही विद्यार्थी उतना अच्छा व्यवहार ईश्वर के साथ नहीं करता अनेक कारण हैं व्यक्ति के इस जीवन में प्रभाव करने वाले प्रभाव डालने वाले संस्कार पूर्व जन्म के भी होते इसके पश्चात व्यक्ति के निर्माण में माता का स्थान है मां धार्मिकी विदुषी योगाभ्यास करने वाली ईश्वर को मानने समझने वाली यदि उसको प्रशिक्षण देती है तो उस बालक का स्वभाव ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करने का बनेगा नहीं तो नहीं उसके पश्चात पिता का प्रशिक्षण चलता है उसके पश्चात गुरु जी का प्रशिक्षण चलता है उसके पश्चात राजा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और एक अपने मित्रों का साथियों का समाज का प्रभाव पड़ता है इसके पश्चात व्यक्ति स्वतः परिश्रम पुरुषार्थ करता है इसके साथ साथ जहां गुरु जी का संबंध है वहां पाठ्य पुस्तक ग्रंथ इनका प्रभाव पड़ता है यदि इसको उल्टा कर दें विपरीत करें तो बिगाड़ने में भी इसी प्रकार से इनको संयुक्त कर लेना चाहिए विशेष जी क्या समझा कारण क्या थे सुधारने में पिताजी गुरु समाज के साथ के अधिकार हाँ जी माता जी सबसे पहले पिताजी दो तो? सबसे पहले माता जी एक दूसरे पिताजी तीसरे गुरु जी चौथे राजा का प्रभाव पांचवा मित्र साथी का प्रभाव और गुरु जी के साथ साथ जोड़ना चाहिए कि उस विद्यार्थी का जो अध्ययन है पाठ्यक्रम है अर्थात शिक्षा प्रणाली में जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं उन ग्रंथों का प्रभाव यो कहिए गुरु जी का और उन ग्रंथों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और एक के बिगाड़ने में पूर्व जन्म के संस्कार काम करते हैं अच्छे संस्कार व्यक्ति को अच्छा बनाने में कारण होते हैं और बुरे संस्कार पूर्व जन्म के बुरा बनाने में कारण होते हैं इसके पश्चात माता कारण है इसके पश्चात पिता कारण है इसके पश्चात आचार्य और पाठ्य पुस्तकें कारण है इसके पश्चात राजा कारण है और समाज मित्र जिनमें वो रहता है संघ समाज कारण है और इसके पश्चात व्यक्ति स्वयं कारण कोई जानना चाहता है या शंका करता है तो उत्तर मुख्य रूपेण ये होगा जो मैंने सुनाया आप ये जानना चाहते हैं हमारे निर्माण में कारण क्या है आप ये जानते हैं हमारे बिगाड़ में कारण क्या है तो ये प्रमुख कारण कुछ सुनाए मैंने और अनेक कारण इनके साथ आबद्ध हो सकते हैं परंतु यदि हमें पूर्व जन्म में योगाभ्यास करते थे और जन्मों से करते चले आ रहे थे हमको ऐसा प्रशिक्षण मिला था पूर्व जन्म हमने वेद पढ़े थे दर्शन उपनिषदें पढ़ी थी यम नियमों का पालन किया था किसी भी जन्म में अनेकों जन्मों में वो सामर्थ्य संस्कार ईश्वर के साथ उचित व्यवहार गुरु जैसा व्यवहार कराने में हमको बल देता है सहायता मिलती अब इसको यदि उदाहरण के रूप में देखना हो तो कितने ही लोगों को कितना ही सिखाओ कितना ही पढ़ाओ बीस वर्ष के पीछे भी वो योग के लिए ए, कुछ भी करने के लिए तैयार है संज्ञा भी श्रद्धापूर्वक करने के लिए तैयार कई बार ऐसी स्थिति होती है कुछ मां भी चाहती थी इतना तो नहीं सिखाया फिर वो संध्या करती थी अपने पुत्र को भी साधारण रूप से ऐसा बनाना चाहती थी पिता भी कुछ ऐसा चाहता था प्रयास भी किया गुरुजी भी कुछ ऐसा मिला इतना परिश्रम तो इन्होंने नहीं किया फिर कुछ मात्रा में किया इतना होने पर भी वो बालक कभी भी रुचि श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास करने के लिए तैयार नहीं क्या कारण है बताओ नहीं व्यक्ति के अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वे उसमें कारण उसमें काम करते रहे पर ध्यान देने की बात है संस्कार इतना प्रबल है ये हमने जान लिया पर ऐसा नहीं मानना चाहिए समझना चाहिए कि ये संस्कार रोका नहीं जा सकता इस संस्कार को कमजोर नहीं किया जा सकता इस संस्कार को मारा नहीं जा सकता बुरे संस्कारों को मारा जा सकता जो चीज उत्पन्न होती है वह विनाश को प्राप्त होती है ये नियम जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी जो चीज बनाई जा सकती है वह बिगाड़ी जा सकती है इसलिए परिज्ञान रहना चाहिए कि संस्कारों कितने प्रबल हों जन्म जन्मांतर के हों पर उनको जाना जा सकता है उनको रोका जा सकता है उनको तनु किया जा सकता है उनको दग्ध बीज भाव अर्थात ज्ञान के माध्यम से जलाया जा सकता है ये भी जानना चाहिए अन्यथा व्यक्ति विचार के क्षेत्र में भूल करता है तो मान लेता है ये संस्कार ऐसे हैं ये हटाए नहीं जा सकते इनको मिटाया नहीं जा सकता ऐसे ही ये मेरे जीवन को खराब करते रहेंगे ऐसा यदि मान ले व्यक्ति तो उन्नति वहीं पर रुक जाती है और जब ऐसा मानता है कि संस्कारों को समाप्त किया जा सकता है तो वो पुरुषार्थ करता है और उन संस्कारों को मिटा के रखते हैं पर याद रहे अपने विपरीत विचारों से संधि समझौता करने वाला व्यक्ति संस्कारों को नहीं मिटा सकता एक एक बात को जोड़ते जाइए अपने विचारों को प्रिय मानता है बड़े रुचिकर लगते हैं चोरी कर लेता है तो कोई बात नहीं खाने पीने की क्या चोरी है लेके खा लिया तो क्या चोरी अपने विचारों की पुष्टि करता है अपने विपरीत विचारों की पुष्टि करने वाला व्यक्ति कभी संस्कारों को मिटा नहीं सकता अत्यंत विरोध करता है अपनी झूठी बातों का अत्यंत विरोध उदाहरण के रूप में आप जिस व्यक्ति के साथ कुछ मतभेद अथवा कुछ खींचातानी का विचार रखते हैं उस व्यक्ति को दुख देने के लिए उस व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए बड़े भारी जन समुदाय में उसके दोषों का वर्ण कितना खुल के करते हैं कितना खुल के करते हैं मेरी बात समझ उस व्यक्ति के दोषों का कितना तीव्र और खुल के व्याख्यान करते हैं करते हैं ऐसे ही अपने दोषों का जो व्यक्ति खुल करके भयंकर खंडन नहीं करता वो व्यक्ति उन संस्कारों को नहीं मिटा सकता अब मैंने दूसरे का नाम लिया दूसरे के दोषों का वर्णन जैसा खुल करके जैसा अत्यंत विरोध और ईर्षा द्वेष रखने वाले का तो अति विरोध जैसे वो करता है ऐसे अपने दोषों को पीछे लग जाता है व्यक्ति और अपने दोषों का उतना ही भयंकर विरोध करता अपने दोषों का जो मानसिक वो व्यक्ति इनको जला देता है इस प्रयोग को आप बार बार देख सकेंगे सतत देख सकेंगे जो मैं अभी सुनाया इसको देखते रहिए आप आपके अंदर दोष प्राय मिलेगा जो व्यक्ति इस सीमा को पार नहीं कर पाया उसमें यह दोष जोगा तो मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं एक व्यक्ति को बार बार कहा जाता है इतने बजे इतने इतने इतने घंटी बजा देना फिर उसको कहा जाता है भोजन की भी घंटी बजा देना फिर कहा जाता है विद्यालय की भी बजाना अब वो कभी विद्यालय की पांच मिनट पीछे कभी भोजन की पांच मिनट पहले कभी फिर आगे की वो बात फिर किसी कहा गया उनका भोजन जाके दे देना उसको कभी लाता ही नहीं भूल गया फिर दूसरी बार फिर देर में जाता है अब उसके साथ ये घटना घटती रही अब ये व्यक्ति इस अपने दोस्त से प्यार करता है ये उत्तरदायित्वहीनता का जो दोष है उससे प्यार करता है साथी विरोध नहीं करता उसको कष्ट नहीं होता ये इतना दोष करने पर तो ये व्यक्ति से छुटकारा नहीं पा सकता एक बार की घटना एक विद्यार्थी से कहा गया कि भाई इस औषधि को इतना इतना हिला मिला करके देना तो वो भूल गया उसको बताया गया इसको मिला जुला के कैसे दो तो फिर दूसरा दिन आया जैसे दूसरे दिन भी बिना मिलाए बिना वह इसको देना आरंभ करता इसको मिला दे ऐसे कर पता नहीं कितनी बार कहा गया या लंबे काल तक कहा गया वो उस औषधि को जो रोज पाठ बताया जाता वो जो का तो भूल के उसी स्तर पर जाकर सोचता इन्हें मिला जुलाए उसको देना आरंभ करता उसको रोका जाता नहीं ऐसा नहीं ऐसा अब ये क्यों ऐसा होता पद्धति देखने की जो है उसको अपना लेना चाहिए और जो उन्नत होने की रूपरेखा है उसको स्वीकार करना चाहिए उसमें हटता करना उसमें अपने आप को दीनहीन देखना अभिमान करना ध्यान ही नहीं देना क्या है इसमें क्या बिगड़ गया थोड़ा सा दो मिनट पीछे घंटी लग गई क्या होता है पहले लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है एक दो मिनट ही तो गया है ऐसे सोचता है तो विचार करने में जो दोष बने रहते हैं उनको कितना देखना पड़ता है अब हमने कहा आपने सुना ईश्वर को सतत दिन भर अपने साथ जोड़ा रखो कभी संबंध मत टूटने दो निद्रा काल में संबंध टूटता है हमारे बस की बात नहीं रहती निद्रा काल में हमारे अधिकार से बाहर होती है ये बात निद्रा काल में हम ईश्वर से संबंध संबद्ध नहीं रह, रह पाते ये शेष काल में हम ईश्वर से संबद्ध रह सकते हैं और ईश्वर की उपासना को बनाए रख सकते हैं विशेष गुण अवस्था में भी ऐसी चीज आ सकती है उपासना भंग हो जाए अब यदि व्यक्ति के विचारधारा में क्या दोष आता है वो कहता है देखो ये ईश्वर कहता मुझे याद रखो मेरी उपासना किया करो दिन भर मुझे दो नहीं बच्चा जैसे मां की गोद में रहता ऐसे मेरी क्षण में रहो मेरी स्तुति प्रार्थना उपासना करो और दोष में विशेष किया करो अब ये कहता है सोचने में दोष कह देता है भाई ये भगवान क्या हुआ ये तो अपने मान के लिए ललायित रहता है कहता मेरी स्तुति करो मेरी प्रार्थना करो मेरी उपासना करो कोई अच्छा व्यक्ति ये कहता है कि मेरी स्तुति करो अच्छा व्यक्ति भी नहीं कहता भगवान की ये हालत है तो कहता मैं इस प्रकार के भगवान को मानने के लिए तैयार हूं अब इसकी बुद्धि ऐसे काम <laughs> ऐसे भगवान को मानने के लिए तैयार हूं और तो और अपनी स्तुति करवाए कहे कि मेरी स्तुति करो मैं सत्यवादी हूं मैं परोपकारी हूं परोपकार करो मैं सबका देने वाला हूं सबको ये भ्रांतियां भी विचारों में उपस्थित होती हैं तो व्यक्ति को नीचे गिरा देती ईश्वर से संबंध काट दे तोड़ दे एक व्यक्ति सोचता है भाई बहुत दिन हो गए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते करते कुछ मिलता मिलाता तो है नहीं किसी ने सुनाया कोई गुरुकुल का पढ़ा लिखा था और वो अच्छा था पढ़ा लिखा दुमान भी हो सकता कहने लगा मैं तो 25 वर्ष हो गए पता नहीं ऐसा सुना था उसने मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मैंने तो संध्या करनी छोड़ आपको इन दिनों संध्या करने में मुझे मिलता मिलता है या नहीं मिलता मुझे विशेष भी बोले है नहीं मिलता अच्छा आप बोलो मिलता है ऐसा लगता है हाँ जी मिलता है ऐसा लगता है आपको क्या मेरा आजकल मेरा शुरू हुआ है हाँ जी कुछ देर तक कुछ आनंद मिलता है सर देर से कुछ समय तक उपासना में आधा घंटा जैसे बहुत अच्छी स्थिति रहता है अच्छा उस समय कुछ आनंद मिल, रहा है ऐसा लगता और जी श्रीनिवास मिलता है हाँ जी हाँ जी हाँ अच्छा, अच्छा हाँ जी आशुतोष एकाग्रता बन करते है तो समय दर्द उठाती लेते जाते इतना लाभ मिलता है संजय जी बोले अच्छा और जी आप बोलेंगे बैठने की रहता तो बहुत अच्छी ढंग से कार्य मैंने अपनी दिनचर्या करते हैं मैं तो कुछ दिक्कत के में पहले तो डर लगता है करने से पहले तो लगता है बेकार अच्छा अच्छा अपनी दीवार में बैठ अच्छा हाँ जी हाँ जी कुछ कुछ आरंभ के रूप से अब वो समस्या जो आपको सुनाई जाती है वो याद रखनी हमको संध्या उपासना करने से लाभ प्रतीत नहीं होता ध्यान देना क्या संध्या उपासना योगाभ्यास से लाभ होता ही नहीं है अथवा होता है हमको करनी नहीं आती उन सब पक्ष मानते हो संध्या उपासना योगाभ्यास से आनंद मिलता है मोक्ष मिलता है ये सत्य है या वैसे होता ही नहीं है मान रखा है लोगों ने कौन सा उद्यस्ता संदेह होता नहीं शुरू एक तो जिसको नहीं हो रहा लाभ वो व्यक्ति इस स्थिति में है संदेह उठा सकता है कि इसमें कहने की बात है आनंद तो इसमें मिलता ही होता ही और एक व्यक्ति ये कहता है होता तो है मेरे करने में दोष है आपको कैसा लगता है करने में दोष तो इसमें समझना कि निश्चित रूपेण करने में दोष है संध्या उपासना योगाभ्यास करना नहीं आता इसलिए आनंद नहीं मिल रहा कि आनंद नहीं मिलता ये दोष और इसी बात को पुष्ट करने में ये शब्द प्रमाण जो है ये आधार बने होते और शब्द प्रमाण आधार होते हुए भी स्वयं व्यक्ति यदि प्रयोग करता रहता है और उसको अपनी अनुभूतियां पकड़े में आती है तो अनुभूतियां होती हैं ये स्तुति करने से प्रार्थना करने से उपासना करने से मुझे क्या क्या लाभ होता है और किन किन हानियों से मैं बचता हूं अर्थात अनुभूति भी इसको पुष्टि पुष्ट कर सकती है यदि कोई देखना चाहे देखना जानता है प्रयोग करता जाता है तो अनुभूतियां भी ये बताएंगी कि निश्चित रूप में लाभ होता है और हानियों से हम बचते हैं अब Oh ्यो शान्तिरन्दरिक्षम् शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर् ब्रह्म शान्तिः सर्वम् शान्ति शान्तिरेव शान्तिः साहा शान्तिरे ओम शांति शांति शांति उपलब्ध होना इसलिए है कि मनुष्य जन्म को शरीर को पाकर के व्यक्ति ईश्वर को जाना ईश्वर की प्राप्ति करे यदि व्यक्ति मनुष्य शरीर को पा करके ईश्वर को प्राप्त नहीं करता ईश्वर साक्षात्कार नहीं करता प्राप्त नहीं करता तो व्यक्ति का जीवन विफल माना जाता है ऐसी स्थिति हो सकती है साधना योगाभ्यास संस्कार न्यून होने से इस जन्म में इस साक्षात्कार न हो पाए पर प्रत्येक व्यक्ति का ये मुख्य कार्य है कर्तव्य है कि वह पूर्ण रूपे तन मन धन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करें हो सकता है आधा पौना भाग ईश्वर साक्षात्कार की ओर चलने का क्षेत्र वो पूरा करें लिए प्रमुख रूपेण प्रयास न करना यथाशक्ति तनमन धन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए परिश्रम तप न करना अथवा इसको गौण मानना यह एक महान दोष है दोषी होता है दोष क्या है इसको समण रखिए ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वही दोष है दृष्टि में जो अच्छा है वही गुण है अंतिम निर्णय ईश्वर के ज्ञान के आधार पर होता है यदि हम अंतिम सत्य अंतिम गुण अंतिम अच्छाई किसी तत्व का अंतिम निर्धारण करना चाहे तो उस निर्धारण का आधार ईश्वर ही होगा कारण क्या है ईश्वर कभी भी भूल नहीं तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान काल में ईश्वर से भूल नहीं होती ईश्वर कोई दोष युक्त नहीं होता ईश्वर में अज्ञानता पक्षपात निर्बलता अन्न की कमी आदि दोष नहीं है जिन व्यक्तियों में या जिस व्यक्ति में अज्ञान संशयात्मक ज्ञान विपरीत ज्ञान आनंद की न्यूनता पक्षपात बुद्धि एक देशीता अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता इस प्रकार के ये दोष होते हैं उसी व्यक्ति से त्रुटियां होती हैं व्यक्ति को अंतिम सत्य को निर्धारित करने के लिए अंतिम उद्देश्य को जानने के लिए अंतिम गुण दोष का परीक्षण निर्धारित करने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए या स्वीकार करना पड़ता है मैं तो को ऐसा बना के रखा जा सकता न किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति जैसे मन में सोचता है अपनी बुद्धि से मापता है जानता है और अपने ज्ञान के आधार पर अपने मंतव्यों का सिद्धांतों का निर्वाचन करता है ईश्वर को दूर छोड़ देता है ऐसी स्थिति में निश्चित रूपेण व्यक्ति विपरीत सिद्धांत मंतव्यों का निर्धारण करके विपरीत कार्यों को करता हुआ विफल हो जाता है संसार को देखिए शरीर आदितों की रचना देखिए विश्व का विस्तार देखिए घातक है ये संसार इसकी रचना को देखिए समझिए अनुमान से प्रत्यक्ष प्रमाण से और देखते चले जाइए इसमें अनंतता दिखाई देती है इस संसार की रचना करना इसका संचालन करना सब जीवों को भिन्न भिन्न योनियों में भेजना इस सारे कार्यकलाप में बल की ज्ञान की गुणों की अनंतता दिखाई देती व्यक्ति अपने ज्ञान को देखता है मैं कितना जानता हूं व्यक्ति अपने बल को देखता है मैं कितना बलवान हूं अपनी क्रियाओं को देखता है मैं कितनी क्रिया कर सकता हूं तो वो नाम मात्र की स्थिति उसके पास में मिलती है नाम मात्र का ज्ञान है किंचित मात्र उसका बल है किंचित क्रिया करने का शक्ति सामर्थ्य बल है उसका अब ध्यान देना है कि जो हम या जीवात्मा ज्ञान करता है विद्वान बनता है ज्ञान की उन्नति करता है वह सब कुछ देखता हुआ अनुभव कर सकता है कि मैं अपने बल अपने साधनों अपने उपकरणों को लेके कोई व्यवहारिक कार्य की सिद्धि अपने ज्ञान से नहीं कर सकता कोई कर्म क्रिया मैं अपने बल से नहीं कर सकता उपासना सत्संग किसी का अपने बल पर नहीं कर सकता ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान करते कर्म इंद्रियों से कर्म करते शरीर की नसनाड़ियों नाड़ियों से हम सारे कार्यकलाप करते रहते इनको पांच कोष बोलते हैं उनके माध्यम से ज्ञान कर्म उपासना करते हैं और सटीक के आधार पर हम जीवित रहते हैं जल वायु अग्नि हमारे शरीर में व्यापक और बाहर के क्षेत्र में ये जो सूर्य चंद्रमा ठीक स्थिति में चल रहे हैं तो हम जीवित यदि ये व्यवस्था न हो तो हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते आगे काम करने की बात तो दूसरी है ये थोड़ा सा बतलाया कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य अंतिम सफलता क्या है इसमें निश्चित बात है कि ईश्वर ने जो आदेश दिया है वही वेद मंत्रों में प्राय इन बातों का प्रयोग होता रहता है उपनिषाद ऋषिकृत ग्रंथ ऋषियों का व्यवहार ऋषियों के उपदेश ऋषियों की व्याख्या ऋषियों का अंतिम निर्धारण सिद्धांत निर्धारित सिद्धांत हमारे सामने पढ़ने पढ़ाने को मिलता है ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर को जानने के लिए और वेद को समझने के लिए हम ऋषिकृत ग्रंथों का सहारा लेते हैं दुनिया से इस विवेचन से बात निकली कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो है वही है उसके पश्चात ऋषियों ने उसको स्वीकार किया है ऋषियों ने जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है वही है निरीक्षण करेंगे देखेंगे समझेंगे प्राय व्यक्ति ईश्वर का निर्धारित चरम लक्ष्य ऋषियों के द्वारा निश्चित चरम लक्ष्य एकाध व्यक्ति के हृदय में होगा नहीं तो वो नहीं आज की मानव जाति उसको छोड़ चुकी का बताया चरम लक्ष्य मानव जीवन की सफलता को छोड़ चुकी है ऋषियों का बताया मानव जीवन का अंतिम चरम लक्ष्य उसको मानव जाति छोड़ चुकी है कोई करोड़ों में कहना चाहिए एक व्यक्ति मिले जो इस बात को इसी रूप में मान के प्रयासशील हो इतना परीक्षण इतना अध्ययन इतना सत्संग इतने प्रयोग करके देखने के पश्चात व्यक्ति अंतिम बुद्धि में निर्धारित करता है कि वस्तुतः मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना ही है इस स्थिति में आप आता है अब परीक्षा की दृष्टि से और उनके विचारों को जानने की दृष्टि से और स्पष्ट अपनी बात कहें सुनने की स्थिति को सुधारने के लिए ब्रह्मचारियों से पूछा जाए तो ब्रह्मचारी अपना बताएंगे कि हमारे मन में क्या रहता है विश्वेश जी बोले अर्थात क्या मन में ये बात बैठी आपने अर्थात स्वीकार की कि ईश्वर प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है हाँ इसके दो विभाग बनाओ एक तो ज्ञान में उतर जाना उस चीज का बात का एक हमारे ज्ञान में वो बात नहीं उतर रही हम उसको अपने ज्ञान के माध्यम से नहीं देख रहे पर शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से हम निर्णय कर चुके हैं और अभी हमारा विपरीत विचारों से युद्ध है और एक स्थिति है अनुमान प्रमाण और शुद्ध प्रमाण से बात को हम स्वीकार नहीं कर रहे और न ही हमारा विपरीत लक्ष्य से युद्ध चल रहा है सत्यबोध जी बोलेंगे अनुमान और शब्द प्रमाण से निश्चय कर लिया हम्म। परंतु व्यवहार में उतरने में घबराता हूं हाँ जी आप बोलेंगे शब्द निर्णय ले लिया और व्यवहार में जाने का संघर्ष कर संघर्ष हाँ जी श्री निवास निर्णय लिया हूं और संघर्ष चल रहा है व्यवहार के रूप में आने के लिए और जी अपने सुधांशु जी प्रमाणों से जो तो आशुतोष जी बोर होता है कानून रहता है हाँ और जी संजय जी हम्म। साधन जी शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर प्राप्ति का स्वीकार कर लिया है हाँ। किंतु संघर्ष कर ये अपने सुमेर प्रसाद जी अरे हम्म। और ये हर्षरूप जी अल्लाह सल्लाह से विश्वास हो गया है अब देखिए किया आपके अंदर से किया और नहीं गई जैसे आशुतोष जी ने बताया बात तो ये हम पढ़ते पढ़ाते हैं पर ये मुख्य नहीं बना है गौण है और एक व्यक्ति का मुख्य बन चुका है पर संघर्ष है ईश्वर उसमें है मुख्य बना और वो अभी मुख्य बनने के पश्चात उसकी स्थिति अभी ये है कि विचार की प्रीत धारा में उखाड़ते हैं हमको हम उन विचारों को टक्कर लेके उखाड़ते हैं और उस पर जमने का प्रयास कर रहे हैं और सिद्धांत रूप में मुख्य रूप में हमें स्वीकार कर देता है कुछ अंतर समझ आया इनमें ये अंतर समझने चाहिए हमें ये जान चुके हैं कि सर्वथा सर्वदा सत्य बोलना चाहिए सत्य ही मानना चाहिए सत्य ही करना चाहिए पर हमारे पहले के उल्टे संस्कार विपरीत संस्कार हमको उखाड़ते हैं या उद्वेग उत्पन्न करते हैं और हम उनसे टक्कर लेते हैं और संघर्ष रहता है जनभाग उनको हटाते हैं जमने नहीं देते और गौण स्थिति वाला व्यक्ति उनको जमने देता है वो संघर्ष नहीं करता साधारण संघर्ष करता विशेष संघर्ष नहीं है उसका केवल गौण मानने के कारण से मुख्य उद्देश्य उसका लौकिक कोई भोग है ये दोनों अंतर है अब समस्या विश्व के सामने भी यही है और आपके सामने भी यही है तो इस समस्या का समाधान जैसे मैंने सुनाया वैसे सोचिए क्या समझ में आता है आपको कैसे कैसे प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए कितना समय लगाना पड़ेगा आपको उस स्थिति में जाकर के आप अंतिम उद्घोष करेंगे अंतिम घोषणा करेंगे अंतिम कहेंगे कि वस्तुतः तो यही ठीक है और इससे अतिरिक्त कोई मार्ग हो ही नहीं सकता यही था यही रहेगा कोई माने नहीं माने कोई जाने नहीं जाने मैं इस पर ही चलूंगा और चलाऊंगा ये स्थिति उत्पन्न होगी ईश्वर और वेद अंतिम आधार निर्णय के कारण पर उसके दूसरे भाग में ऋषिकृत ग्रंथ और ऋषि उनका उपदेश उनका जीवन इसको जोड़ हमारा ज्ञान और भौतिकवादियों का ज्ञान भोगवादियों का ज्ञान भौतिक वैज्ञानिकों का ज्ञान जो काम करता है उसके विपरीत कुछ सिद्धांतों में ऋषियों का ज्ञान काम करता है भौतिक वैज्ञानिक और भोगवादी लोग और हमारा ज्ञान ये दर्शाता है ये दिखाता है कि ईश्वर प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता ये कहने की बातें हैं ये कल्पनाएं हैं ये मान्यताएं ऋषियों ने मन गढ़ंत रखी है ये बात निकल के आती है पर जो व्यक्ति ऋषियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते नहीं जानते नहीं समझते गहराई से वो ऋषियों के गुणक्रम स्वभाव को नहीं जान पाते इसी प्रकार के करोड़ों लोग संप्रदायों के लोग भौतिक वैज्ञानिक लोग ऋषिकृत ग्रंथों को नहीं पढ़ते नहीं पढ़ाते इसलिए उनके विषय में कुछ नहीं जानते या विपरीत जानते जो ऋषियों की पद्धति से अंग उपांग उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ वेद इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते श्रद्धा से सोचते उन लोगों को यह समझ में आता है कि इन ऋषियों ने जो निर्धारित सिद्धांत किए हैं चरम लक्ष्य बताया है उसके साधन बताए हैं ये असत्य नहीं हो सकते इस परिणाम पर पहुंच जाते ये असत्य नहीं हो सकते इसके विपरीत भौतिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत भोगवादियों के सिद्धांत असत्य हैं उस क्षेत्र को छोड़िए जो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है ईश्वर के विषय में आत्मा के विषय में मुक्ति के विषय में चरित्र के विषय में ब्रह्मचरी के विषय में धर्म के विषय में समाज निर्माण के विषय में पारिवारिक क्षेत्र में मनुष्य के सर्वांग पूर्ण निर्माण के विषय में ये जितने विषय हैं इनमें वैज्ञानिकों के विचार जो ऋषियों से टकराते हैं वो झूठे भौतिक विज्ञान में उन्होंने जो खोज की है नई नई और सत्य है उनके विषय में वाद विवाद नहीं है एक दो चार चीजों को सत्य देखता हुआ झटके उठता है झट मानता है देखो कितना सत्य इन्होंने लागे कर दिया है इनकी दूसरी बातें भी जो ऋषियों के विरुद्ध वो भी सत्य होंगी ऐसा ऐसी कल्पना करता है पर ऐसा नहीं है ये भ्रांति प्राय लोगों में रहती इन्होंने बीस सिद्धांत ऐसे आविष्कार कर दिए जो शत प्रतिशत सत्य है भौतिक वैज्ञानिकों उनका कि इतने सत्य हैं ये और पहले किसी को परिज्ञात भी नहीं दिखते ही तो ऋषियों की बात जितनी भी है वो इनके सत्य होने के कारण ऋषियों की बात आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि के विषय में जो है वो झूठी है इनके दिमाग में यह बात रही इसलिए ऋषियों की मान्यताओं को वो ठुकराते हैं आपके मन में भी ये हो सकता बताया जाता है बहुत बात ये आता है कि भौतिक वैज्ञानिकों का ज्ञान विज्ञान बहुत से क्षेत्र में वास्तविक है भौतिक क्षेत्र में अत्यंत उत्कर्षता को प्राप्त कर चुका है पर ईश्वर के विषय में आत्मा के विषय और आगे चलो तो सूक्ष्म प्रकृति के विषय में भी उनका ज्ञान इतना अच्छा नहीं है अर्थात अनेक भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता है विद्वानों ने देख लिखे इसके ऊपर ये उनकी मान्यता वो ये मान के चलते हैं प्रकृति सत्वरज तम के सम्मिश्रण से विशेष तत्वों के सहयोग से चेतन तत्व पदार्थ पैदा होता है और उसको छिन्न भिन्न कर दो तोड़ो तो वही जड़त्व को प्राप्त हो जाता है जब भौतिक क्षेत्र में भी उनका पूरा ज्ञान नहीं है तो आत्मा परमात्मा के विषय में तो प्राय है ही नहीं इसलिए इस संबंध में भौतिक वैज्ञानिक की जो शत प्रतिशत मान्यताएं सिद्ध हैं वो हमको स्वीकार है कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए पर वेद के विरुद्ध ईश्वर के गुणग्र स्वभाव के विरुद्ध ऋषियों के विरुद्ध जो उनकी मान्यताएं इस दूसरे क्षेत्र में है वो हे क्या के यदि हम उनको हे नहीं मानते और हटाते नहीं तो भयंकर आपत्ति आ रही है आ चुकी है विश्व दुख सागर में डूब चुका है और बचा हुआ डूब रहा है और डूबेगा ही जिसको नहीं रोका गया हो सकता है ये सारे वैज्ञानिक बुद्धिमान इकट्ठे होके ये विचार कर कि हमने सब कुछ देखा फिर सुख शांति की स्थिति तो कहीं भी नहीं मिल रही मानव निर्माण की बात तो अंतिम आ ही नहीं रही हमारे चरित्र निर्माण तो कहीं रहा ही नहीं कहीं मनुष्यपन तो समाप्त हो गया अथवा ये भी तो देखना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा है ये देखना चाहिए इन लाखों ऋषियों ने अपने ग्रंथों में क्या लिखा ये उनको पढ़ें और पढ़ाएं और फिर खोज करें और फिर लौट के देखें कि आत्मा परमात्मा नाम की चीज है ये हमारे देखते देखते होगा आगे होगा ये अलग बात है ऐसा यदि सोचने लगे तो सुधार हो सकता है अब इसको यहीं पर विराम